और कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे और तुम्हारा ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं